ये संखट ग्रह नीचे करेगा तो ऊपर भाव करेगा नीचे फेस नीचे गिरना बंद कर गल और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे हाँ हाँ, ऊपर थोड़ा इधर घुमा दो हाँ बस बस घुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देख करण नग चढ़े विमाना ओ मारे तिन संगा देख राम चरित रंगा सोवत समर रस ढूंढिस माते कपि जयशील राम बल पाते एक एक सन बिरही पचारही एक न एक मर्द मई पारे मार का कहीं धरही पछारही शीश तो से सन सन मारही उधर विदा रही भिजाऊ पारही गही पद अवनि पटकी भटडा रही ईश्वर भट मही गाड़ भालू ऊपर ढार दे बहु बालू वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे विखियत विपुल काल जन क्रोधे शांत समान कपितन स्रवत सौनित राज मरदैन सासर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही मारहे चपेट निडांति दातन काटिलातन मीजही करई मर कट भाल छल बल करई जई खल छी जही धरी काल पारही उद विदारही गलय तावर मेलही प्रहलाद पतजन विविध तनु धरि समर अंगन खेलही घर मारो काटो पछार घोर गिरा गंगन मई बही रही जय राम जो तृण से कुलिस कर पुलिस दे कर तृण सही निज दल विचलित देखते बीत चाप रथ चढ़ चलो दसानन फिरऊ फिरऊ करि गाप की है पवन सुनो मान

की चर्चा भगवान राम ने विभीषण से की ये प्रसंग जब बीच में आया उसके पहले तुलसीदास जी ने बताया कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हुई हैं और फिर मानव भालू लोग भगवान राम की जय जयकार बोल करके युद्ध कर रहे हैं उधर रावण की सेना रावण की जय जयकार बोल करके युद्ध कर रही करने लगी कहा तो धीरे वीर जित राम नहीं उत राम नहीं बखान और जब व्रत की चर्चा हो गई तब उसी के बाद फिर कहा कि लड़क निशा कर भालू तप कर भगवान अभी भालू बाना निशा सब वो हो अपने अपने स्वामी के जय जयकार बोलते हुए और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया अभी यहाँ से देखते हैं कि वीर रस जो वो ज्यादा मरता है युद्ध तो चल रहा है चार दिन से पांचवा दिन है यार लेकिन इस युद्ध में ज्यादा वीरता का बदल कुंभकर्ण मारा गया मेघनाथ मारे गए उसमें भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ तो वो मारे गए लेकिन अब युद्ध जो है उससे भी ज्यादा भयंकर युद्ध हो रहा है और युद्ध क्षेत्र करके रावण की तरफ से इधर भगवान राम की तरफ से योद्धा दोनों जो है वो बड़े उत्साह के साथ बड़ी वीरता धीरता के साथ में लड़ रहे हैं अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे अभी पाठ कर रहे थे इसमें तो दो छंद भी आए ही के पहले दो छंद है ये छंद इस बात की सूचना है कि अभी एक विशेष रस का परिपाक हो रहा है रस परिपाक कहलाता है इसमें जैसे बीज रस है तो उसको परिपक्व होकर के पूर्ण उत्साह के साथ में आएगा उसको पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते अगर अच्छा होता है तो उसे पढ़ो तो फिर नशों में खून आ जाए बीज रस ससनाने लगे मन में भी भावना उसी प्रकार की आ जाए ये बीज का बढ़ाने वाला इस प्रकार से दूसरी बात ये तो साहित्य की दृष्टि से है बीजस की दृष्टि से है राम रावण के लंका में युद्ध हो रहा है तो युद्ध का वर्णन है लेकिन जब धर्म रस की चर्चा देखी समझी और अंतर्मुखी दृष्टि से देखते हैं तो ये तो ध्यान रख नहीं है ये संग्राम साधारण संग्राम नहीं है देवासुर संग्राम देवता और असुर लोग इन दोनों का युद्ध होता है अपने हृदय में अपने अंदर तो ये संग्राम साधारण नहीं है मैंने जो लोग लापरवाह हैं उपेक्षा करने वाले इसके हैं ध्यान इधर नहीं देते उनके अंदर ये संग्राम क्या चले उनका तो जीव भाव पराजित ही रहता है वे पराजित सजीवन जीते हैं सदा ही उनके ऊपर संसार शत्रु सिर के ऊपर सवार रहता है और उनको प्रदलित किए रहता है उसी से पीड़ित कराते हुए वे जीवन जीते हैं इसलिए उनका क्या कहा जाए कि उनके अंदर संग्राम चल रहा है लेकिन जहाँ थोड़ी आध्यात्मिक चेतना आई और व्यक्ति को ये लगा कि हम जीवन में कुछ अपना आंतरिक विकास करें अपने आंतरिक आत्मबल को बढ़ावें आंतरिक शक्ति आवे उत्साह और प्रसन्नता में जीवन हो तो फिर ये संग्राम प्रारंभ हो जाता है बिना ये देवा को तो संग्राम हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं उसको जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं जो आनंद शांति संतोष जीवन का होना चाहिए वो इस संग्राम को लड़े बिना प्राप्त नहीं होता ये कर नहीं होता जैसे ये संग्राम में राम राम का संग्राम में सीता जी को वो अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं तो शंकराचार्य कहते हैं वो शांति है अभी संग्राम चले तो अंत में जिसकी विजय हो उसको शांति प्राप्त हो तो सीता जी जो संग्राम के जो युद्ध के बाद जो पुरस्कार प्राप्त हो जो लाभ प्राप्त हो संग्राम का वो सीता जी है शांत स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वो सीता जी है तो अभी संग्राम में अपने अंदर जो चल रहा है इस प्रकार से तो इसमें व्यक्ति के अंदर परमात्मा ज्ञान जागृत हो परमात्मा का आनंद प्राप्त हो परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो उनकी भक्ति प्राप्त हो तो ये संग्राम तो लड़ना ही होगा ये काम तो राज राज के साथ विकारों को ध्वस्त करना ही पड़ेगा कि चाहे इसमें सबल हो इनको मारना पड़ेगा जो लोग इस प्रकार समझते हैं अरे आप हाँ, ये तो बड़े प्रबल है दुनिया में कौन उनको जीत सकता है काम तो सबको होते हैं सब राज्य तो सभी रखते हैं और इससे कौन बचा है और ऐसे कौन बचा है करके एक निराशा की निगेटिव टेंडेंसी लेकर के अब पड़े रहते हैं तो उन लोगों को तो ये संग्राम तो नहीं करता लेकिन तुलसीदास के वर्णन ऐसे करते हैं कि ऐसे मरे मनों में भी जीवन आ जाए ये मरे मन है अरे दुनिया सभी काम को राज विकारों से ध्वस्त है ये सब कौन से भरा जीत सकता है तो ये मरे मन है इन मरे मनों में भी चेतना आ जाए इनमें भी उत्साह आ जाए तो वर्णन इस प्रकार से करते हैं तो ये <clears throat> श्रवण व्यवस्था या पाठ का रामचरित मानस का जो वो भी एक साधना है इसलिए मरे मनों में भी शक्ति उत्पन्न कर दे जागृत ले दे और वो फिर से <clears throat> संग्राम में राग देश आदि निशाचरों को काम करो राग निशाचरों को मारने के लिए उत्साहित हो जाए और उठ खड़े हो अपने मन में अपने हृदय से इसलिए ये भी की आवश्यकता है आप तो कहते हैं अभी जो संग्राम हो रहा है वाल्मीकि कहते हैं ये संग्राम अद्भुत संग्राम था अद्भुत के माने कैसा था कि ऐसा था कि जैसा ये इसकी के तुलना में कोई दूसरा संग्राम नहीं और वैसे तो पृथ्वी पर तमाम संग्राम होते हैं एक से एक लड़ाइयाँ होती हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं महायुद्ध होने लगते हैं वर्ल्ड वार होने लगती है लेकिन कहते हैं आध्यात्मिक युद्ध के, के सामने वो भी कुछ है कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं है उससे भी बड़ा युद्ध जो वो अपने आंतरिक जगत का होता है वो है और उसमें भी जब हम इंद्रिय संयम इत्यादि मनोनिग्रह इत्यादि करते हैं तो ये प्रारंभिक संग्राम है थोड़ा बड़ा प्रयास चलता है लेकिन जब आगे चल करके ज्ञान और अज्ञान का संग्राम होता है मोह का और भक्ति का संग्राम होता है हम्म, तब देखो फिर ये अद्भुत संग्राम क्योंकि ये तो संग्राम में इस प्रकार से जब विजय प्राप्त होती है तो विजय प्राप्त जो है वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है <clears throat> तीनों लोगों का स्वामी और अजय और सदा के लिए स्वामी हो जाता है उसके बाद सब उसके पदलित हो गए सब उसके अधीनस्थ हो गए अब बस उसके ऊपर से कोई नहीं ऐसी विजय प्राप्त तो इससे बड़ा कोई संग्राम भी नहीं हुए इसलिए ये संत लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जो युद्ध है वो सबसे बड़ा युद्ध है राम राम युद्ध इससे बड़ा तो युद्ध राम के माने परम परमात्मा और राम के माने मोह वो मोह अंतिम विकारों का समस्त विकारों का राजा जिसके नष्ट होने तक सारे विकार ग्रस्त हो जाए चार क्रोध आदि का करें सात समाप्त इसलिए इस संग्राम को देखने के लिए देवता सिद्ध देखो गिनाते हैं सुर ब्रह्मा सिद्ध मुनि देवा ये जितने भी शब्द है ब्रह्मा इत्यादि देवता ब्रह्मा के मैंने ब्रह्मा विष्णु मय तीनों देवता सिद्ध लोग मुनि लोग देवता लोग ऐसा लोग संग्राम देखना है ये सोच करके बड़ा ऐसा संग्राम दोबारा कहाँ मिलने वाला है देखने को चलो देखो ये संग्राम ये सब तो आकाश में कहते हैं देखत नव रण नव चढ़े विमाना आकाश में विमान पर चढ़े हुए ये सब लोग युद्ध देख रहे हैं अब देवता लोग विमान पर चढ़ करके आते हैं आकाश में चढ़े हुए घूमते हैं तो ये पहले वर्णन कर चुके हैं बता चुके हैं ये देवता क्या है सिद्ध मुनि क्या है अब जबकि आंतरिक जगत में देवा का संग्राम हो रहा होगा तो वहां पर ये देवता लोग आएंगे और सिद्ध मुन आएंगे और ब्रह्मा जी इत्यादि आएंगे तो कैसे आएंगे सिवाय तो ये विभिन्न प्रकार के सात्विक वृत्तियां हैं और वे सबके सब जो है संग्राम को देख रहे हैं ये सब देववृत्तियां हैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब ये सब आते हैं और युद्ध को देखते हैं इस प्रकार से तो ये देख सक नर सर रण नर चढ़े विमाना विमानों में चढ़े आकाश में से युद्ध को देखा है जैसे कोई नीचे स्थान पर खड़े होकर के देखे जिनके कहा जा रहा है तो सिद्ध क्षेत्र स्टेडियम में इस प्रकार से ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े उनके विमान उड़ रहे हैं और नीचे युद्ध हो रहा है उसको ये देवता लोग देख रहे हैं और शंकर जी कहते हैं कि देखो सब देवताओं के साथ हम भी थे जैसे ब्रह्मा ने कह दिया तो उसमें अपने आप को भी गिना दिया कि हम मार रहे थे संगा के पार्वती उसे हम भी थे अब ऐसा ना समझा हम युद्ध का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसे सुना सुनाया कर रहे हैं कल्पना की बातें बोल रहे हैं किताब हमारा देखा हुआ हम भी वहां पर तो इससे बारे में है कि शंकर जी जो है वो युद्ध क्षेत्र में थे वहां पर संग्राम देखा है और राम मानस को अगर देखें तो ये पता चलता है कि जब भगवान ने अवतार देने को थे उसके पहले समझे ने भगवान से प्रार्थना की अवतार लेने के लिए वहां भी शंकर जी थे फिर शंकर जी कहते हैं कि तेई समाज गिर जा मैं रहे हूँ और सर पाए बचन कहूँ मैं तेई समाज मैंने कथा कहते रहते थे शंकर जी लेकिन कहते हैं उस कथा में उस जहाँ जहाँ भी घटनाएं घटती हैं कि हम भी वहाँ तो जब प्रार्थना हो रही थी भगवान अवतार में तब भी शंकर जी वहाँ और फिर जब भगवान ने अवतार लिया तब आगे शंकर जी अयोध्या तो भगवान की बाल लीला उनकी जन्म का महोत्सव देखने के लिए आ गए उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए आ गए जब भगवान श्री राम जी का जनकपुरी में विवाह हुआ था शंकर जी थे वहां के हाँ? वहाँ सब देवता कहने लगे ब्रह्मा जी कहने लगे ये सब यहाँ पर है ये तो सबको हमारी सृष्टि तो यहाँ से दिखाई नहीं ये हाँ? यह कैसे रोज चीजें हैं तो शंकर जी ने कहा तुम चक्कर मत करो ये सब भगवान धाम परम परमात्मा है सीता जी महामाया है और तुम्हारी यहाँ रखना कहाँ करी है उनके चक्कर तो उनको स्मरण दिलाया तो ब्रह्मा जी को हो लाए तो हाँ बात कहती है तो शंकर जी वाले और शंकर जी जहाँ रहते हैं साथ ज्ञान की बातें बोलते रहते हैं सब जगह की जगह जगह जहाँ होंगे तो जो लोग भुला जाते हैं मोह में पड़ जाते हैं शंकर जी उनको याद दिलाते रहते हैं और वहाँ वहाँ विद्यमान रहते हैं जहाँ जहाँ इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चलती हैं अब यहाँ कहते हैं कि क्षेत्र है यहाँ पर भी भगवान विद्यमान भगवान शंकर जी युद्ध को देख रहे हैं एक बात और कोई कोई कहते हैं कि सब देवता जो थे ये तो मानव धातु बन गए थे अभी युद्ध कैसे देख रहे हैं हम्म? हनुमान जी क्या ये स्वयं शंकर जी और शंकर जी वहां कहें मैं भी था देख रहा था उनको युद्ध को तो हनुमान का युद्ध अगर रावण से हो रहा है तो शंकर जी देख रहे हैं सर हाँ? तो कुछ लोगों को ये सब गड़बड़ खड़ा लगता जब लौकिक दृष्टि से देखते हैं तब उनको लगता है कि वर्णन करने वाला भूल भूल जाता है एक बार कह दिया कि हनुमान बन गया दोबारा कहते वो देख रहे खड़े हुए अंदर तो वास्तव में ऐसे है कि ये देवता लोगों को समझना चाहिए कि ये समस्त रूप भी है दस रूप भी है एक रूप भी है अनेक रूप भी है ये भाव भी समझना चाहिए मैंने ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों की तरह से अगर हम यहाँ आए तो दूसरी जगह नहीं हो सकते तो ये तो मनुष्यों के भौतिक शरीर की बात है लेकिन देवताओं के साथ में इस प्रकार वो एक समय में एक स्थान पर होंगे तो दूसरे स्थान पर भी हो सकते हैं दो दो चार चार दस स्थान में भी हो सकते हैं और दूसरी बात ये कि वो एक के बजाय कई कई हो सकते हैं है एक लेकिन वो अनेक हो सकते हैं अब देखो आकाश में जैसे सूर्य तो एक है लेकिन सबके नेत्रों में सूर्य देवता का तेमान बिना सूर्य देवता नेत्र में हुए आकाश दिखाई देता है तो इसके माने नेत्र तो बहुत है तो सूर्य देवता भी नहीं है क्या हाँ तो सूर्य होते हुए भी अनेक रूप है सब नेत्रों में भी उसका पास है और आकाश में इससे समस्त रूप में भी वही है तो देव तत्व जो है उसको समझने के लिए थोड़ी ये बात इसलिए कहते हैं कि वास्तविक रूप जो देवता का है समझने के लिए इस प्रकार से बोलते रहते हैं जिससे ये व्यक्ति विचार करे तो सही सही धारणा देवता समान मने देवता कोई भौतिक शरीरधारी समाज जैसे मनुष्य जैसे थोड़े हैं वो मनुष्यों से भिन्न प्रकार के यद्यप उनका वर्णन ऐसे करके दुआ करते रहे इस प्रकार से वर्णन करके तो समझते हैं जैसा हमारा शरीर है उनका शरीर ऐसा नहीं है वो देवता तो दिव्य रूप उनका है एक होते हुए भी अनेक रूप भी धारण करते हैं इसलिए देश राम सरित रणरंगा शंकर जी देखो यही से तो रणरंग मानसिक रूप पालने में पड़े हुए होने वाला रूप भी है हाँ? भाइयों के साथ खेलने वाला भी रूप है हाँ? जनकपुरी में सीता जी के साथ विवाह होता है विवाह वो भी बल रूप भगवान राम भी है और बनवासी रूप भगवान भी है जहाँ तक नंगे पर कठोर भूमि के ऊपर गर्मी बरसात का रास्ते में चले जा रहे हैं वो भी भगवान श्री भगवान करिए तब रणरंग भगवान को देखो भगवान के नाना रूप देखे रणरंग भगवान क्या है युद्ध क्षेत्र में युद्ध का तीर रस्ता आनंद लो उनको भगवान राम का ही देखते एक बात बहुत पहले बता चुके हैं यहाँ पर भी इसमें रखनी चाहिए असल में व्यक्तियों के अंदर ये जो वासनाएं होती हैं अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं मन बुद्धि में वो आती रहती हैं और इन वासनाएं अपना प्रभाव दिखा करके व्यक्ति को अपना भोग भुगाती रहती हैं इन भोगों को भोगने के लिए भौतिक तरीका है तो ये है कि संसार अपने भौतिक ज्यादा में फंसा रहे और जैसे उसकी वासना है वैसे अपने कर्म के आगे पड़े और फिर जो लाभ हानि हो सुख दुख हो जय पराजय हो उसमें अपने भोग भोगता रहे सुखी दुखी होता रहे कभी कभी इसी प्रकार से उसके अंदर जो वो हो लड़ाई लड़ने की भी इच्छा होगी लड़ाई भी लड़ेगा लड़ाई लड़ेगा कि जीता लड़ाई लड़ेगा जीतेगा भी हारेगा भी सब व्यक्ति अपने अपने वासनाओं का अनुसार करते रहते हैं ये वासनाओं का खेल है वासना उनको नचारेगी और वो प्रकार से नाच कर लेकिन इसके इन वासनाओं को क्षय करने का एक तरीका इन शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण भी शास्त्र का जब श्रवण करो तो वही वासनाएं श्रवण करते समय क्षण होते रहते व्यक्ति के मन में जीवन आ गया भगवान राम राम जी के हाथ में उसने साधारणीकरण कर लिया और उसका तादात्म हो गया और उसके बाद में जो युद्ध चल रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा भी युद्ध चल रहा हो और वहां युद्ध का आनंद वो अपने लेकर के अपने निरस्ता को संतुष्ट कर लेता है युद्ध के जो संस्कार उपासनाएं हैं उनको भी वो संतुष्ट कर लेता है हम्म? बस उसकी बात ऐसे हो अब फिर उसको भौतिक जीवन युद्ध नहीं करना पड़ता भाषा उसको ये मनोवैज्ञानिक राष्ट्र है शास्त्रों को उनके अध्ययन करने का इसी प्रकार से विभिन्न स्थान आते हैं नाना प्रकार की भाषाएं होती है नाना प्रकार के वर्णन भी शास्त्रों में है उन वर्णनों को देख करके सद्भाव भावित होकर के बैठे अपनी वासनाओं से पूर्ति कर देता है और इनके प्रकार के शास्त्र के द्वारा वासनाओं की पूर्ति करना जब वो हो उसमें एक अद्भुत आनंद भी है भौतिक जीवन में तो कोई युद्ध करेगा तो चिंता और परेशानी के कारण जागरूक भी रहेगा लेकिन यहाँ पर जो उन्हीं वासनाओं को क्षण करेगा भगवान राम के साथ में तादात्म करते हुए तो भले ही कभी लगे कि भगवान जो है पराजित हो रहे हैं या घायल हो रहे हैं और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का लगेगी तो भी एक आनंद की अनुभूति उसको होती है वो चिंता का नहीं रहती वही जानते भगवान राम को विवेक नहीं इसलिए इसलिए उस प्रकार का संतोष रहता है शांति रहती है और आत्माओं का विषय होता रहता है दोनों कार्य इस प्रकार चलते रहते हैं ये शांत होकर के अपने हृदय में देखे पहचाने तो उसको अनुभव में भी आएगा इसलिए बहुत से लोगों को संसारी लोगों को परिवार की इच्छा होती है पुत्रों की कामना होती है पुत्र कामना और पुत्र मोह एक प्रबल समस्या है हर व्यक्ति के हर प्राणी के जीव की मनुष्य के लिए उसकी संतुष्टि के लिए है भगवान श्री राम जी के बांधु की आराधना करो हम्म। उसका संतोष हो जाएगा तृप्ति हो जाएगी इसलिए बहुत लोग जो है भगवान राम को या भगवान कृष्ण को बांस से उपासना करते हैं वो इसलिए भी लगते हैं क्योंकि संसार रहते हैं और उसकी प्रियता के साथ साथ उनकी जो वासना है भौतिक वासना वो भी एक उपासना के बाद क्षण होती रहती है ये सब के सब किस प्रकार से यह आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया कैसे चलती है और कैसे आंतरिक परिष्कार होते रहते हैं और कैसे व्यक्ति के अंदर क्या संघटनाएं घटती रहती हैं ये योगिक दृष्टि से देखा जा सकता है जब साधना करते हैं योग शक्ति अपने अंदर अंतर्मुखी दृष्टि हुई और अपने अंदर कैसे घटनाएं घटती हैं उन सबको देखने की सामर्थ आ गई तो फिर ये सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं अपने अंदर देखा जाए तो मैंने क्यों बताया कि बात पुरानी हो रही है ऐसा नहीं है बात ये कि वासनाएं क्षीण हो रही उन वासनाओं के क्षीण होने के बाद फिर ये जो है वो उतना जैसा दीर्घन अपने अंदर जाकर नहीं ये सब सब देखा जा सकता है कोई ऐसे नहीं कि अज्ञात वस्तुएं हैं ये सब करो और देखो अनुभव करो जीवन में आएंगे तो शंकर जी जो यहाँ सुबह समर रस ढूंढ समाते है और सुबह मन भटवन भी अमर वीर सब दोनों तरफ इकट्ठे हैं और समर रस अब दोनों में युद्ध रस हुआ है वीर रस का युद्ध क्षेत्र है उसे वीर रस से तो सब है इसमें और दो देश माते और वीर रस से माते मन जब वीर रस का अंदर अपने अंदर उद्रेक उस प्रकार से दोनों ओर की तरफ है और जय कपी राम बलता से दोनों तरफ से तो होता है कि लेकिन ही मानव सेना जैसे उनके मैंने युद्ध करते हैं हाथे जीतते कभी ये मरते हैं कभी वो मरते हैं कभी गिरते हैं कभी वो बढ़ते चलता ये लेकिन ओवर करके अगर वो लगाया जाए हिसाब किताब लगाया जाए तो बानरों की विजय ज्यादा बानरों की रहती है निशासक ज्यादा मरते हैं धीरे धीरे करके वो होते जाते हैं है विजयी होते जाते हैं ये होता है अगर सत्य होता है आगे कारण बताते राम अगर ताते एक ताते बने इसलिए क्योंकि उनको राम का बल है भगवान का बल सबसे बड़ा बल है परमात्मा सर्वशक्तिमान है और जहाँ से संसार में भली बुरी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब परमात्मा की शक्ति से ही शक्तिमान है शक्ति शक्ति का मूल कारण परमात्मा रावण में भी अगर कोई शक्ति है तो उसके अंदर भी परमात्मा की शक्ति है तब राम इतना शक्तिशाली परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी शक्ति है नहीं जिससे कि राम अपने आप को शक्तिशाली हो ऐसे नहीं ऐसे जय तपशील राम बल काटे एक एक सन भिड़ हैं अब ये सब एक एक दूसरे से डरते हैं युद्ध करने के लिए लगते हैं और पचारना के बारे ललकारते हैं ललकारते हैं दूसरे को सामने वाला अरे आ जाता तो हूँ तुमको अभी देखो गिराते हैं मारते हैं इस प्रकार से उनको ललकारते हैं उनको और एक एक मर्द महिलाए हैं अब उनको <clears throat> एक एक मैंने दोनों तरफ की बातें हैं कभी बानर कभी भालू तो वो कभी निकाकर ये सब जो जिसकी सफेद में आ गए जो शक्तिशाली हुआ उसने कमजोर को पकड़ा और अगर दिया मिल दिया जमीन में मिला दिया दस्त कर दिया इस प्रकार से युद्ध करते चले जा रहे हैं मारे का कहीं धरे रहे हैं अब बच्चे के तो बराबर ही चलता है इसलिए क्या होना मारना काटना है इसलिए मारते ही है काटे हैं काटने का तात्पर्य निशाकर काटते हैं तो माना उनके पास तलवार होगी तो उससे काट लेते होंगे लेकिन बांधे जब काटते हैं तो उससे काटने के माना क्या है दांतों से काट लिया ना सोनों से नोट लिया और धरे में पठा रहे धरे में पकड़ना पकड़ भी लेते हैं और पकड़ में आ गए तो उठाकर पकड़ देते हैं पठारे में पकड़ देना मारते के काटते तो है पकड़ मार पकड़ लेते हैं पकड़ को उठा के पकड़ देते हैं और सी छोड़ सी सन मारे शंकर जी ने क्या देखा कि कहीं कोई तो किसी का सिर तोड़ लेते हैं काटने की बात नहीं कहते धल पकड़ा सिर ले गए जैसे कि मुनि की तरह तोड़ वैसे करके तोड़ लिया सिर अलग कर लिया गर्दन से अलग हो गया और फिर उस सिर को क्या किया उस सर उस सिर को ही अस्त्र बना करके दूसरे सिर में मार तो जहां दूसरे के सिर में लगा तो सिर फट गया ऐसा मरते चलता और उधर बिता रहे हैं भजा हो पा रहे हैं उधर बिता रहे हैं मैंने पेट फाड़ पेट में जान नाखून लगाए और चीर दिया था पेट और भजा हो पा रहे हैं कहीं बाँ पकड़ करके खींच ली सारा शरीर को जमीन में दबा करके पैरों से और बाँस भी ज्यादा खींच ली तो हरियाई होली की तरह अलग हो गई और कहीं अपने पटक बच जा रहे हैं और कहीं पैर पकड़ करके चारों तरफ घुमा करके जमीन के ऊपर खटक देते हैं ऐसे करके सब युद्ध दोनों तरफ होगा निश्चर भट मई डारंग भादु निश्चर भट जो निशाचरों के जो वीर है उनको क्या करते हैं ये लोग भादु मई डारंग ये बानर भालू लोग जो वो जमीन खोद करके और निशाचरों को उसके भीतर दबा देते ये निशाचरों को मारो तो ये जल्दी मरते रहे उठा के पटक भी दो जमीन पर तो ऐसा नहीं पटक दिया तो मर गए पटक के गिर पड़ते हैं ये पड़ते हैं मन बेहोश भी हो गए थोड़ी देर पर खड़े हो जाते हैं तब ये भानुओं को लगता है कि बार बार खड़े हो जाते हैं तो करने के लिए क्या किया जाए तो भानुओं ने अपने फंडों से जमीन खोदी जहाँ पालू वालू है और खोद करके उसके बाद उसके उन्होंने उनको लेकर के उस बालू को नीचे दबा दिया ऊपर तमाम बालू तोड़ दी के बाद उसे उगड़े और बाहर न निकले ऊपर खार से बालू ऊपर से बहुत से बालू उनके ऊपर तोड़ देते हैं जमीन में डाल देते हैं वीर परिमो को युद्ध विरुद्ध ये बलि लोग तुम्हारे बानर ये लोग हैं बड़े पीर है और युद्ध विरुद्ध है हमारे युद्ध में विरोधी युद्ध कर रहे हैं युद्ध विरुद्ध मैंने आप, आमने सामने एक दूसरे के विरोधी निशाचर और भालू ये सब आपस में एक दूसरे के विरोध में युद्ध कर रहे हैं लड़े हुए और एक बात और भी कि वैसे अभी तक क्या था संग्राम के पहले कि ये निशाचर समझते थे कि ये मनुष्य हो चाहे बानर हो ये सबका तो हमारे भोजन है आहार हमसे खा जाएंगे रावण बार बार ये कहता है अरे इन को क्या कर ये तो हमारे सब भोजन है ये तो हमारे भोजन है जब चाहे तो खा जाएंगे ये तो हमारा खाना पीना चलेना है ये समझता है लेकिन अब क्या हो गया अब बिल्कुल स्थिति तो उलट गई जो बानर के निशाचरों के आहार थे वही निशाचर वही बानर अब निशाचरों को खा जा रहे उलट गया इसलिए विरुद्ध अब व्यवहार और ये अपने शास्त्रों के बल में बस नहीं चलता कि मानवों को खा जाए तो समझे कि बाबा का अच्छा आ गया भोजन आगे करो खा डालो नहीं खा सकता है बिल्कुल इसलिए कहते हैं धीरे बनी मुख्य विरुद्ध विरुद्ध